यज्ञ में दीक्षित तथा ऋतजों उनकी वैदिक शाखा का अध्ययन करने वालों का सोच ब्रह्मा जी ने एक दिन बताया है अपने गोत्र से अलग जनों की शुद्धि चार दिनों में हो जाती है क्योंकि उनके लिए जनना शौच तथा मरना शौच तीन दिनों में अधिक नहीं होते परिवार में मृत्यु हो जाने पर बांधवों को दस दिनों में शुद्धि हो जाती है जन्म के दस दिन बाद छह मास के भीतर बालक की मृत्यु होने पर एक दिन का शौच होता है तत्पश्चात सात वर्ष से छोटे बालक की मृत्यु होने पर तीन रात का शौच होता है सात वर्ष से बड़े उपनीत ब्राह्मण बालक की मृत्यु पर दस दिन का शौच होता है किंतु विकल्प से पिता के लिए एक दिन का भी असौच बताया गया है माता के लिए तो दस दिन का असोच रहता ही है तीन वर्ष से कम के बालक की मृत्यु पर बांधवों की शुद्धि स्नान मात्र से हो जाती है किंतु पिता की शुद्धि सदा ही तीन रात्रि के उपरांत ही होती है आठ वर्ष से अधिक के संबंध की मृत्यु होने पर बांधवों की शुद्धि एक दिन में हो जाती है हे सुब्रतो आठ वर्ष के बाद बारह वर्ष के पहले तक स्त्रियों को तीन रात का शौच होता है सातवीं पीढ़ी के बाद सपिंडता समाप्त हो जाती है दस दिन बीत जाने पर असोच का ज्ञान होने पर तीन रात का शौच होता है हे विप्रो छह मास के पहले मृत्यु ही जानकारी होने पर तक्षणी दो रात एक दिन का शौच होता है और उसके बाद एक वर्ष से पहले एक दिन का अशौच होता है वर्ष व्यतीत हो जाने पर स्नान मात्र से सपिंडों की शुद्धि हो जाती है सबका स्पर्श कर लेने पर तीन रात में शुद्धि होती है धर्म के लिए स्नान ही शुद्धि हेतु कहा जाता है बांधव न होने पर सबका दाह करने वाले उस उसे ते ले जाने वालों के लिए स्नान मात्र से शुद्धि हो जाती है सबके साथ यात्रा में जाने पर स्नान करने तथा ग्रत का प्राशन करने पर व्यक्ति रात का शौच होता है शुद्ध होता है हे दजो आचार्य तथा श्रोत्री के मरणों में तीन रात का शौच होता है माता के भाइयों के मरण में पक्षणी अशौच होता है और उपकारी जनों के मरण में तीन रात का शौच होता है राजाओं सामंतों तथा देशांतरवासियों के मरण में स्नान मात्र से शुद्धि हो जाती है हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों क्षत्रियों का अशोच बारह दिन का होता है अवशिष्ट राजाओं के रण में मरने पर बांधवों को अशोच नहीं होता है वैश्य पंद्रह दिनों में और शूद्र एक महीने में शुद्ध होता है हे विप्रो इस प्रकार मैंने संक्षेप में अत्यतम द्रव्य शुद्धि का वर्णन कर दिया पूर्व की भांति है यतियों का अशोच होता ही नहीं है हे दुजो अब मैं स्त्रियों के रजोधर्म की प्रवृत्ति का वर्णन करता हूँ त्रेता आदि युगों में प्रत्येक मास में स्त्रियों को रजोधर्म होता है युग की प्रकृति के अनुसार सतयुग में लोग स्त्रियों के साथ एक बार सहवास करते हैं और संतानें उत्पन्न होती हैं जिस प्रकार भाग्यशाली कुरुवर्ष निवासी करते हैं हे सुब्रतो दक्षिण में भारतवर्ष में वर्णाश्रम व्यवस्था त्रेता युग से लेकर है यह व्यवस्था अन्य आठ किम पुरुष आदि वर्षों में महावीत में तथा यशोवीत में नहीं है साक द्वीप आदि द्वीपों में भारत के ही समान धर्म की व्यवस्था बताई गई है सतयुग में लोगों की वृत्ति सहज आनंद की थी त्रेता में ग्रह तथा वृक्ष आदि पर आधारित वृत्ति थी वही वृत्ति में बाद में रजोगुण के कारण लोगों के राग द्वेष आधारित हो गई और बाद में रजोगुण दोष का कारण लोगों के राग देश पर आधारित हे विप्रों काम बस स्त्री संग क्रोध इत्यादि दोषों के कारण जौ आदि हविष्यान एवं औषधियां चौदह प्रकार के ग्राम्य तथा वन्य पदार्थों के रूप में उत्पन्न होने लगी जो अकाल में नष्ट होकर पुनः उत्पन्न होती है इसीलिए प्रयत्न पूर्वक रजस्वला स्त्री से संभाषण आदि नहीं करना चाहिए पहले दिन रजस्वला स्त्री चांडाले की भांति वर्ज होती है हे विप्रों दूसरे दिन वह ब्रह्म घातनी के समान होती है और तीसरे दिन उसके आधे पाप से युक्त रहती है हे सुब्रतो चौथे दिन स्नान करके वह आधे महीने तक देव पूजन आदि के लिए शुद्ध हो रहती है पांचवें दिन से सोलहवें दिन तक रजो दोष रहने के कारण स्त्री स्पर्श आदि की शुद्धि मूत्रोत्सर्ग की शुद्धि की तरह कही गई है इसके बाद ही उसकी पूर्ण शुद्धि होगी यदि स्त्री रजो दोष से युक्त है तो पांच रात्रि तक वह अस्पृश्य अगम्य होती है बीस दिन के बाद भी वह यदि रजो दोष से युक्त है तो वह पूर्व की भांति अस्पृश्य होती है रजस्वला स्त्री को स्नान शौच गायन रोदन हास परिहास यात्रा करना अभ्यंग ध्युत अनुलेपन विशेष रूप से दिन में शयन दंत धावन मैथुन मन वाणी से भी देव पूजन और नमस्कार आदि को पूर्ण प्रयत्न से त्याग देना चाहिए रजस्वला को चाहिए कि अन्य रजस्वला स्त्री के अंग स्पर्श तथा उसके साथ बातचीत का त्याग कर दे उसे पूर्ण प्रयत्न के साथ वस्त्र बदलने का त्याग कर देना चाहिए रजस्वला स्त्री को चाहिए कि स्नान करके शुद्ध होने पर पति के अतिरिक्त अन्य पुरुष का स्पर्श न करे और सूर्य देव का दर्शन करे तदनंतर आत्म शुद्धि के लिए ब्रह्मकूर्च अथवा केवल पंचगव्य अथवा दुग्ध पान करे रजो धर्म के चौथे दिन स्त्री गमन के योग्य नहीं होती है अतः स्त्री नष्ट तथा अल्प आयु वाले पुत्र को जन्म देती है वह विद्या रहित व्रत से च्युत पतित दूसरों की स्त्रियों के साथ दुराचार करने वाले तथा दरिद्रता के समुद्र में डूब रहने वाले पुत्र को उत्पन्न करती हैं पुत्री की कामना करने वाले को पांचवें दिन स्त्री के साथ गमन करना चाहिए रक्त का आधिक्य होने पर कन्या होती है शुक्र का आदिक्य होने पर पुत्र होता है और दोनों के समान होने पर नपुंसक संतान उत्पन्न होती है पांचवें दिन सहवास करने पर कन्या उत्पन्न होती है छठे दिन यदि स्त्री के साथ गमन किया जाए तो वह महाभाग्यवती स्त्री उत्तम पुत्र को उत्पन्न करती है उसके पुत्रत्व को प्रकट करती है और वह पैदा हुआ पुत्र महातेजस्वी होता है पुम यह एक नरक का नाम है और नरक को दुख पूर्व कहा गया है वह स्त्री पुम नरक से त्राण रक्षा करने वाले उस प्रकार के पुत्र को जन्म देती है कन्या की इच्छा वाले को सातवीं रात्रि में गमन करना चाहिए किंतु वह कन्या बंध्या होती है आठवीं रात्रि में स्त्री सर्वगुण संपन्न पुत्र को जन्म देती है कन्या की इच्छा वाले व्यक्ति को नौवा रात सहवास करना चाहिए दसवीं रात में संभोग करने पर विद्वान पुत्र उत्पन्न होता है ग्यारहवीं रात में सहवास करने पर वह स्त्री पूर्व की भांति कन्या उत्पन्न करती है बारहवें दिन स्त्री धर्म तत्व के ज्ञाता तथा द्वितीय स्मृति के धर्मों को चलाने वाले पुत्र को उत्पन्न करती है और तेरहवीं रात में गमन करने पर मूर्ख तथा वर्ण संकर दोष फैलने वाला तथा कन्याएं उत्पन्न हो करती है अतः पूरे प्रयत्न से उसी दिन स्त्री सहवास नहीं करना चाहिए यदि चौदहवीं रात में गमन किया जाए तो वह स्त्री पुत्र उत्पन्न करने वाली होती है पंद्रहवीं रात में गमन करने पर वह धर्मनिष्ठ कन्या को तथा सोलहवीं रात में गमन करने पर ज्ञान में पारंगत पुत्र को उत्पन्न करती है मैथुन के समय यदि स्त्रियों के बाएं पार्श्व में वायु प्रभावित होती हो तो कन्या होती है और दक्षिण पार्श्व में प्रभावित हो तो पुत्र प्राप्त होता है पाप ग्रह से रहित तो मैथुन कार्य में स्त्रियों से सहवास करना चाहिए ऐसे बताई गई शुभ समय में पवित्र होकर उत्तम मुस्कान वाली भार्या के साथ गमन करना चाहिए हे विप्रों इस प्रकार मैंने यतियों के धर्म संग्रह में प्रसंग पूर्वक सभी प्राणियों के सदाचार का वर्णन कर दिया जो मनुष्य पवित्र होकर इस सदाचार को विधि पूर्वक पढ़ता है अथवा सुनता है अथवा दग्ध पाप वाले ब्राह्मण को सुनाता है वह ब्रह्म लोक प्राप्त करके ब्रह्मा के साथ आनंद करता है ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय